इनसे कहो कि अपने वो गवाह जरा सामने तो लाओ जो ये गवाही दें कि अल्लाह ने इन चीज़ों को हराम करार दिया है फिर अगर ये खुद गवाही दे भी दें तो तुम उनके साथ गवाही में शरीक न होना और उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे न चलना जिन्होंने हमारी आयतों को छुटलाया है जो आखरत पर ईमान नहीं रखते और जो दूसरों को खुदाई में अपने परवरदिगार के बराबर मानते हैं